सर्वेशु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शि एष सर्वेशु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते बोले भाई जब परमात्मा से पुरुष से परे कुछ है ही नहीं सबसे परे पुरुष और पुरुष से परे कुछ नहीं हाँ ना परम न परम अस्थि किंचित छोटा से पर उपनिषद में आया कि उस तथा परम ना परम अस्थि किंचित परमात्मा से न कुछ परे है न परमात्मा से कुछ पूरे है न पर है न अवर है सबके परे है तो वो सबके हुए है तो वो ऐसा मालूम पड़ता है हस्तग्राह जिम्मे व आत्मानम दर्शयती आत्मा को जैसे ऐसा है कि मुट्ठी हाथ से पकड़ लें अब ऐसा लगता है परमात्मा कि हाथ से पकड़ लें हृदय से लगा लें जीप से चाट लें आंख से देख लें क्योंकि उसके सिवाय कुछ है ही नहीं बोले फिर मिलता क्यों नहीं मिलता नहीं मानते नहीं हो पहचानते नहीं हो परमात्मा को तुमको है ना एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता है दोनों हाथ फैलाएंगे तुम्हारी इंतजार कर रहा है आओ आओ प्यार का स्वरूप परमात्मा है ज्ञान का स्वरूप परमात्मा है अस्तित्व सत्ता परमात्मा है कोई चीज है तो परमात्मा है हाँ, कहीं प्रकाश है तो परमात्मा है कहीं प्रेम है तो परमात्मा है कटुक वचन मत बोल रहे तो हे दियो मिलेंगे जीती बाजी मत हार दे अब पकड़ हरे घूमट गोपट खोल दे है ना तो जो पीऊ बोलेंगे घूंघट को पट खोल दे ये पर्दा हटा दो ये आवरण बंद कर दो ये दुराव मिटा दो वो तो जने जने में है हाँ बने बने हैं जने जने है वन वन में भी वही है जन जन में भी वही है हाँ वो रने रने है वो कणे कणे है वो रण रण में है वो कण कण में है बोले छिप गया है एस सर्वेश भूतेषु गूढ़ोत्मा एस आत्मा सर्वेशु भूतेशु गुणा ये आत्मा ये जो नाना आकृति विकृति प्रकृति जो दिखाई पड़ती है ना सर्वेशु भूतेशु वे चिड़िया में वो छिपा है भूत माने चिड़िया है ना चिड़िया में वो छिपा चीटी में वो छिपा तुम चीटी देखते हो परमात्मा को नहीं देखते हो जैसे बच्चा जो है ना मिठाई की शक्ल देखता है मिठाई नहीं देखता खिलौने होते ना हाथी घोड़े गद्दे हाँ घर में दिवाली के अवसर पर पहले की बात मैं जानता हूँ आपको बता दें यहाँ कैसा होता है हाँ, खिलौने खरीद के हम लोगों के लिए आते थे खाड़ के खिलौने ये घोड़ा ये हाथी ये गधा ये स्त्री ये पुरुष ये कहारे पनहारिन वो बाह के नीचे घड़ा दबाए हुए खार की अब महाराज बच्चों में ये होता कि हम तो भाई गधा नहीं लेंगे हम तो हाथी लेंगे अरे भाई खार तो बराबर है दोनों में बोले नहीं राम राम हम गधा चुनेंगे तो क्या हुआ वो गधे की शक्ल में खार छिप गई ना हाथी के शक्ल में खार छिप गई घोड़े की शक्ल में खार छिप गई ये देखो वेदांत ये वेदांत का सार है वो वेदांत का सार तुम शकल को शकल के साथ वाद करके खार को नहीं पकड़ते हो जब खान को जानोगे तो शकल का बाद हो जाएगा पहले शकल को हाथी घोड़ा गदा जो उसमें नाम रूप है ना उसका अपवाद करके खाण मात्र को पहचानो जब खाण मात्र को पहचान लोगे तो घोड़े गड्ढे की शकल बाधित हो जाएगी मिथ्या है वो तो उसके शकल का कोई वजन नहीं है वजनदार तो खाण है है ना तो आकृतियां सब बाधित हो जाएंगे ये नहीं कि फूट जाएंगे खिलौने खान समझने से खिलौने फूटते नहीं ये नहीं समझना कि ब्रह्म ज्ञान होगा तो सब स्त्री पुरुष बिल्कुल चटनी की तरह पीस के बिना सकल सूरत के बना दिए जाएंगे है ना ये तो महाराज संत है ना वेदांत के विरोधियों का संत है बोला व्यवहार को स्वतंत्र सिद्ध करने वाली अगर कोई वस्तु है तो वो वेदांत है व्यवहार को बिल्कुल स्वातंत्र देने वाला हाँ, खाड़ पहचानने से खिलौने फूटते नहीं हैं और खाने के ही काम आते हैं हाँ, ये ऐसा ब्रह्म है महाराज शक्ल में माटी खिलौने में माटी छिप गई खिलौने में खाड़ छिप छिप गई इस शक्लों में चैतन्य छिप गया आकृतियां जितनी हैं है ना सपने की आकृति में अपना आत्मा छुप जाता है कि नहीं देखो सपने में आ, हाँ, मैंने देखा कि मैं कुंभ के मेले में हजारों आ आदमी और मैं गंगा स्नान कर रहा हूँ मैंने स्वप्न में देखा अब देखो वो मैं गंगा स्नान करने वाला जब बना तो मैं सपना देखने वाला जो खुद वो प्रयागराज का निर्माता वो त्रिवेणी का निर्माता है ना वो त्रिवेणी का प्रकाशक त्रिवेणी में महत्व बुद्धि देने वाला मैं है ना मैं अपने को भूल गया और अपने को नहाने वाला मानने लगा है ना वो नाई कहे कि बाल बना दे वो ब्राह्मण कहे कि दान कर दो है ना वो भीड़ धक्का मारे राग हो उनसे द्वेष हो कब हुआ तो देखने वाला कहाँ छिप गया देखने वाला दिखने वाले में छिप गया देखने वाला कहाँ छिपा हाँ, बिंदु में सिंधु समान यह सुन यह दर्ज ना करो हेरन हार हैरान रहीमन ही आप में हेरन हार हैरान रहीमन आप ही आप में और ये हेरने वाला ढूंढने वाला अपने आप में ही खो गया है अपने आप को तो चिड़िया में कौन छिपा चिड़िया की शकल है उसमें छिपा है परमात्मा चीटी की शकल है उसमें छिपा है परमात्मा स्त्री की शकल है उसमें छिपा है परमात्मा पुरुष की शकल है छिपा है परमात्मा घूंघट को खोल रहे तो है व्यू मिलेंगे तुमको तुम्हारे प्यारे की प्राप्ति होगी ये घूंघट हटा दो ये आवरण भंग कर दो ये पर्दा मिटा दो यही है आवरण अभी है और यही एस सर्वेशु भूतेशु मिट्टी में चिड़िया चीटी ये तो पशु पक्षी के अर्थ में हुआ ना अरे मिट्टी दिखती है और वो नहीं दिखता है कहाँ छिपा है बोले मिट्टी में मिट्टी की आकृति जो है ना नाम रूप मिट्टी का इसका अपवाद करके देखो एक वही सत्ता है वो जल में छिपा है उपाय अग्नि में छिपा है उपाय में छिपा है वो आकाश में छिपा है असल में है वही ये सब तो उसने सकल बनाई है है ना खेल में हमारे साथ हाथ मिलौनी का खेल खेल क्या हमको क्या तू ढूंढे बंदे हम तो तेरे पास हैं ईश्वर कहीं दूर गया है देश सर्वेशु भूतेशु ये इंद्र जो है ना छिपने की शकल है ब्रह्मा छिपने की शकल है विष्णु छिपने की शकल है वो शिव छिपने की शकल है और निराकार जो है तो वो भी छिपने की शकल है निराकार भी छिपने जैसे विक्षेप छिपने की शक्ल है वैसे समाधि भी छिपने की शक्ल है जैसे चीटी छिपने की शक्ल है वैसे विष्णु भी छिपने की शक्ल है जैसे भाव छिपने की शक्ल है वैसे अभाव भी छिपने की शक्ल है एक सर्वेशु भूतेशु भूतेशु भवंती भूतानी उत्पद्यमानेशु जिनकी उत्पत्ति और जिनका प्रलय होता है जिनका भावा भाव होता है उनमें गूढ़ आत्मा गूढ़ोत्मा तो यहाँ पाणनीय व्याकरण की दृष्टि से संधि नहीं होती है हाँ हो गए तो गूढ़ोत्मा नहीं होगा गूढ़ आत्मा कैसा होगा गूढ़ आत्मा परंतु पाणनीय व्याकरण तो नारायण वेद पर लगता ही नहीं है छांद से की दृष्टा वेद के मंत्र लक्षणानुसारी नहीं होते अगर तुम्हें व्याकरण बनाना है तो जैसा वेद में है उसके अनुसार व्याकरण बनाओ ही वेद का व्याकरण होता है व्याकरण दो तरह का होता है एक लक्षणानुसारी एक अनुसारी वेद का व्याकरण लक्षणानुसार वेद लक्षण प्रदान नहीं है लक्ष्य प्रदान ऐसा प्रयोग कर दिया गया वैसा मानो अगर ऐसी संधि पाणनीय व्याकरण में नहीं है तो वो पाणनीय व्याकरण की कमी है क्योंकि वेद में पहले ऐसा लिखा हुआ था जब वो बनाते है ना जब बनाते तब उनको सोच के बनाना चाहिए था व्याकरण कि यदि उसमें संगत हो तो उन्होंने एक एक जगह कह दिया बाबा छंदसी दृष्टान विधि सर्वे विधेयक छंदसी विकल्पते हम जिस जो जो विधि निषेध कर रहे हैं ना हाँ ये देश पर लागू नहीं है जो ने तो का लिखा हो वैसे ही मानना हो तो यहाँ आत्मा है आत्मा एक विद्वान से बड़े ढंग से वेद में से विज्ञान निकालने का काम उन्होंने इस शताब्दी में किया उनसे तो महामहोपाध्याय पंडित कुमार शास्त्री के शिष्य थे वो स्वयं भी महामहोपाध्याय मधुसूदन उन्होंने कहा ये आत्मा नहीं आत्मा ही रहने लगे जीवो आत्मा न प्रकाश आत्मा क्या होता है तो बोले जैसे ला चुमा धातु है वैसे चुमा धातु है न साम्यती इति आत्मा है जो जड़ भाव को कभी प्राप्त न हो हमेशा जब जब जब जब जब चमकते ही रहे हो स्वयं प्रकाश सदा प्रति यदि अपना बूढ़ो तुम्हारे प्रकाश से सर्वेशु भूतेषु गूढ़ोत्मा मत्प्रकाशते दृश्यते स्वदीया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी सर्वस्यापी प्रत्यगात्मायम परमात्मा सब शरीर में जो सबसे भीतर आत्मा है उसी का नाम परमात्मा है का प्रश्न उठा करके शंकराचार्य इस श्रुति का अर्थ समझाते हैं उस पर आप लोगों का ध्यान खींचते हैं पहले प्रश्न उन्होंने उठाया कि तब विष्णु कर्मंतरम वो विष्णु का परम पद है मन पदार्थ का शुद्ध स्वरूप वही है जिसको हम ऐसे सोचते हैं ना मिट्टी पानी में पानी आग में आग हवा में हवा आकाश में है आकाश मन में मन महत्व में महत्व अव्यक्त में अव्यक्त परमात्मा में ऐसे हम जिस पदार्थ के संबंध में विचार करते हैं वो कौन तो बताया इंद्रियों के भीतर उनका उपादान उनके भीतर उनका मन उनके भीतर बुद्धि बुद्धि के भीतर महत्व महत्व के भीतर अव्यक्त और अव्यक्त के भीतर पुरुष में आत्मा वही तो है जिसको मानो तुम ही तो हो इसको पर और यदि इसको तुमने जान लिया तो यशमान भूल न जाए थे तो फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में पढ़ना नहीं पड़ेगा छूट गए तो मान मान बंधन में आए मान मान बंधन में आ गए मान मान कहू कौने जप हो नलिन सूरदास नलिनी को सुबता कहू कौने जिक्र जप रो अपन को आप नहीं विस्तरो ये तो तुमने अपने को देह मान लिया तो जन्म मरने वाले मृत्यु वाले हो गए और अपने को प्राण मान लिया तो जाने आने वाले हो गए अपने को सुखी अपने को मन मान लिया तो सुखी दुखी हो गए अपने को बुद्धि मान लिया तो कुछ समझदार हो गए और अपने को सुसुप्ति शांति मान लिया तो विक्षेप में विक्षिप्त हो गए तो मान मान बंधन में आओ ये दुनिया में जितना दुख है ये सब तुम्हारी मान्यता ही है बाहर कहीं तो नहीं आता है तो उस पर ये प्रश्न उठाया कि जहाँ गति होती है वहाँ से आगति ही होती है जहाँ जाना होगा वहाँ आना वहाँ से आना होगा और ये तो ऐसा है मेरा कि जहाँ से फिर पैदा नहीं होते हैं जहाँ पे फिर आना नहीं पड़ता है तो फिर उसको गति क्यों कहते हैं सात आस्था का परागति परागति क्यों कहा इसका उत्तर देते हैं यहाँ गति शब्द का अर्थ गति नहीं है अवगति है गति और अवगति में फर्क होता है हाँ। अवगति माने ज्ञान साकाष्ठा का परागति ये स्वयं ज्ञान स्वरूप है अवगति है ये गति शब्द का चार अर्थ संस्कृत भाषा में होता है गमन ज्ञान मोक्षेशु प्राप्तन चापी गतिर हटा अंग तो बचपन में जब पढ़ा था ना तो हमारे बाबा बाबा ने उसको बताया था हाँ। गति माने गमन गति माने ज्ञान है ना गति माने मुक्ति और गति माने प्राप्त आती और उंगली पर गिनते थे चार हुआ ना कहा चार हुआ तो गति शब्द का चार अर्थ होता है गमन ज्ञान मोक्ष प्राप्त प्राप्ति गतिर्मता बहुत बचपन का उनसे जब हम पढ़ते थे जब तो आठ नौ वर्ष से जब तक की आ गए तो गति शब्द का अर्थ हुआ ज्ञान मतलब ये हुआ कि यदि पांव से चलकर हम किसी के पास जाते हैं या सूक्ष्म शरीर से उत्क्रमण करके हम किसी के पास पहुंचते हैं तो जहाँ पहुंचेंगे वहां से लौटना होगा लेकिन यदि ये जानेंगे कि हम पहले से यही हैं वो तो भ्रांति से जाने आने वाला मान रहे थे और समझ गए कि हम जाने आने वाले नहीं हैं तो जाना आना छूट गया प्रत्यगात्मक पंच दर्शकम इंद्रिय मनोबुद्धि परतोड़ा इंद्रिय से परे मन से परे बुद्धि से परे ये कह करके बताया कि ये तो प्रत्यगात्मन है प्रत्येगात्मा शब्द का अर्थ क्या होता है प्रति प्रतीतम अंचसी इति प्रत्यय जैसे आंख है तो आंख से सीधे कौन सी चीज दिखती है तो फूल ये सराख हुआ है फूल को बोलेंगे सराख ये प्रास है ये आंख के सामने दिख रहा है प्रास माने सूरज है ना ये आंख के सामने दिख रहा है ये हमारे महात्मा लोग जो हैं वो रोज सवेरे उठ के सूर्य के सामने खड़े होते ना उदित जागरूकम है ना देवम महन के सूर्य के सामने खड़े होते तो जो सामने होता है उसको बोलते प्राप्त और जो दाहिने होता है उसको बोलते दक्षिण बोला जो दाएं होता है उसको बोलते उत्तर और जो पीछे होता उसको बोलते प्रत्या प्रकृति आप शब्दों की का अर्थ आपको बताते हैं प्राची पूर्व है ना आजाची दक्षिण प्रतीची पश्चिम और उदीची उत्तर प्राची अवासी प्रतीति उदीची ये सारे विचारों का नाम है तो प्रतीपा वनस्पति जो ये फूल दिख रहा है ना परा सामने इससे प्रतीका माने उल्टे आपके सामने की ओर फूल दिख रहा है और आंख के पीछे बैठ करके प्रत्यगात्मा दिख रहा है प्रत्येक वो है जो आंखों के पीछे बैठकर आंख में से देख रहा है कौन देख रहा है सब तो मैं ही तो देख रहा हूँ ना मैं ही तो देख रहा हूँ ना तो आंख का चश्मा छोड़ करके जरा देखो वो कौन है तो वही विष्णु का परम पद है जो ही गणता स्व अगतम रूपम दक्षति अनात्म भूता जो कहीं जाता है वो एक अनवैध पदार्थ के पास जाता है परात पदार्थ के पास जाता है अनात्मा के पास जाता है परंतु जो आत्मा के पीछे बैठ कर देख रहा है वो कहीं नहीं जाता अद्भुत उपहार स्नव एक कदम चले नहीं एक कदम तो चले नहीं है और रास्ते का गया देखो तो क्या आश्चर्य है ये सही है, है कि एक कदम तो चलना नहीं पड़ा और रास्ते का अंत मिल गया अनभगा अद्भुत कारण सजा शंकराचार्य ने श्रुति उद्योग की आजकल ढूंढने पर ये श्रुति मिलती तो नहीं है क्योंकि वेद का बहुत सा भाग लुप्त हो गया है तो देखो बात क्या है कि एक कदम चले नहीं और रास्ता से ऐसा कैसे होगा भाई एक आदमी ने कोई नशे की चीज ले ली बांध खा ली खा तो अपने घर में लेकिन मुझको मालूम पड़ता था कि हम घर से अपने दो मील दूर हैं बीच में लगी है मोटर नहीं है कैसे जाए नाव नहीं है कैसे तार उतरे हम अपने घर कैसे तार पहुंचे अब किसी विद्वान पुरुष ने क्या किया मोटर पर बैठाया नहीं नाव पर चढ़ाया नहीं किया क्या ऐसी जुक्ति की कि उसका नशा उतर गया जब नशा उतर गया तो क्या देखता है कि अपने घर में तो क्या हुआ अमर और मोटू चारा इस एक कदम चला नहीं और दो दिन का रास्ता तय हो गया क्योंकि वो भूल से अपने को बाहर समझता था तो जो अज्ञान से अविद्या से ये समझता है कि मैं अपने आत्मा से परमात्मा से दूर हो गया हूँ हाँ, उसको परमात्मा ढूंढने का उपाय क्या है तो ये अविद्या निवृत्त हो ये नशा उतर जाए नश्यति अनया जिससे आदमी का नाश हो जाए उसका नाम नशा नशा उसको कहते हैं जिससे आदमी का नाश हो जाए नाश तो ये बात बताते हैं श्रुति जो है वो यही कहती है फिर मुझको सातु ढूंढे बंदे तुम परमात्मा को ढूंढने कहा जा रहे हो हिमालय में तुम परमात्मा को ढूंढने कहा जा रहे हो मंदिर मस्जिद में हुआ है ये अविद्या माया छिन्न क्या है देखो असल में ये जो देह इंद्रिय प्राण मन में अभिमान करके बैठा हुआ है इसका आंख से देखना प्राकृतिक है कान से सुनना प्राकृतिक है इसका हृदय से चिंतन करना प्राकृतिक है ऐसा मालूम पड़ता है कि मैं आपको देख रहा हूँ ऐसा मालूम पड़ता है कि मैं कान से सुन रहा हूँ तो ये मालूम पड़ता है ये प्रकृति मात्र है इसका जो पारमार्थिक स्वरूप है वो तो आंख रहे कि न रहे साक्षी है कान रहे कि न रहे साक्षी है जीव रहे कि न रहे साक्षी है दिल रहे कि न रहे साक्षी है इसका पारमार्थिक जो स्वरूप है वो तो साक्षी है तो अनात्मा और आत्मा का जो अभिवेक है ये तो अविद्या है माने इस शरीर की मशीन में बैठ करके शरीर के द्वारा देखे हुए को सुने हुए को बोले हुए को अपना देखा हुआ अपना सुना हुआ अपना बोला हुआ मानना ये तो अविद्या है और इसके द्वारा जो नाम रूप मालूम करता है सो क्या है तो माया है है ना माया मुख्या नाम रूप जो मालूम करते हैं तो माया है और उस मशीन को अपना मैं मानना अविद्या बस दो नहीं आगे सत्य जो बाहर नाम रूप मालूम करते हैं उनको सच्चा मान बैठना है ना माया को मिथ्या को सत्य मान बैठना और जिस मशीन के द्वारा जिस दुर्बीन खुदबीन के द्वारा देख रहे हैं उसको मैं मान देखना ये अविद्या है बस वही ये अविद्या और माया तो वेदांत में दोनों तरफ से आता है बोला एक तो माया तत्पदार्थ की उपाधि है क्योंकि नाम रूपात्मक जगत विशाल दिखाई पड़ता है कोई परमात्मा की उपाधि है और अविद्या जो है वो आत्मा की उपाधि है और अविद्या माया दोनों उपाधियों को अलग कर दो तो जो आत्मा को परमात्मा ये वेदांत में सप्तमस्वामी महावाक्य का ऐसा अर्थ होता है कोई कहता है कि पहले ये है कि अविद्या से अपने स्वरूप को न जान करके हाँ। और यंत्र में मैं करके तब इस यंत्र के द्वारा बहुत सारे पदार्थ देख करके उनको सच समझते हैं तो यदि अविद्या कट जाए ये जो यंत्र में ये जो यंत्र में मैं पना है मशीन में जो मैं पना है ये अगर मिट जाए तो इसके द्वारा ये जो जादूगरी दिख रही है ये जो जादू का खेल दिख रहा है ये अपने आप ही कट जाए तो अविद्या को बिठाए ये बात है अब इसमें एक अर्थ ये रहा कि अविद्या विद्या निराकरणीया जो अज्ञान है उसको ज्ञान को काट दो और जो प्रतीति है वो जागत यंत्र भारी जब तक ये यंत्र बना रहेगा तब तक नाम रूपात्मक निखिल प्रपंच की प्रतीति ही बनी रहेगी तो अविद्या से ये अविद्या जो जाती है जब अपने आप को जान लेते हैं और उसकी विचित्रता कब मिट जाती है जब अपने आप को जानते हैं देखो न क्या आश्चर्य है ये शंकराचार्य भगवान का वचन में सुना रहा हूँ हाँ देखो देखो क्या आश्चर्य है कि ये सब के सब प्राणी जंतु पद का प्रयोग किया है बोला मनुष्य देवता की बात नहीं है कीड़ा फटिंगा भी परमार्थतः परमात्म सतत्वा परमार्थ दृष्टि से वो बिल्कुल परमात्म नहीं है और इस प्रकार बारंबार महात्मा लोग समझाते हैं उपनिषद समझाते हैं हम ब्रह्माष्टमी सत्यमसी गीता समझाती है क्षेत्र ज्ञान बुद्धि उपनिषद बोलते हैं गीता बोलते हैं महात्मा लोग बोलते हैं एक महात्मा को पूछा परमात्मा कैसा बोले जैसा तू बोले मैं कैसा महाराज तो जैसा परमात्मा जैसा परमात्मा वैसा तू जैसा तू वैसा परमात्मा ऐसे महात्मा लोग बारम्बार समझाते हैं बोध जमा रहा अहम परमात्मा इसी न गृहणाती परंतु फिर भी उसको ये बोध नहीं होता कि मैं ही परमात्मा हूँ आत्मान देहेन्द्रियादि संघातम अनात्मान देहेन्द्रियादि संघातम आत्मनो घटा दिवस आत्मत्व अहम अनुष्य पुत्र अनुच्यमानों की गृहणाती बारम्बार उपदेश करो फिर भी क्या उल्टी बुद्धि हो रही है मनुष्य की कि जैसे कोई दिखने वाली चीज घड़े को घड़ा दिखता है शाही बानी दिखती है मेज पर कलम दिखती है कागज दिखता है मेज दिखती है अपने से अलग बिल्कुल जो चीज दिखती है उसको जुदा और उसको ये देह है इंद्रिया है प्राण है मन है बुद्धि है ये मालूम करते हैं बिल्कुल देह संघात आत्मा नहीं है इसको देखने वाला जानने वाला मैं इससे न्यारा हूँ अपना दृश्य है और ठीक वैसे ही दृश्य जैसे घड़ा दिखता है जैसे कपड़ा दिखता है फिर भी महाराज बारम्बार समझाने पर भी और बिना किसी के बताने पर भी महाराज वो कहता है मैं ये दो हूँ किसी ने उपदेश नहीं किया मैं ये दो हूँ वहाँ मनुष्य उतरा मैं अमुक का बेटा हूँ ये है मेरा बाप ये तो बिना उपनिषद के उपदेश के मान ले बिना गीता के मान ले बिना संतोपदेश के मान ले हम इनके बेटे हम इनकी बेटी है ना ये हमारा पति ये हमारी पत्नी है ना ये हमारा धान ये हमारा घर ये हमारी हड्डी ये हमारा मांस ये हमारा चांद ये है ना ये तो बिना किसी के बताए मान थे और शास्त्र बतावे कि तुम परमात्मा उपनिषद बतावे कि तुम परमात्मा महात्मा बतावे कि तुम परमात्मा तुम्हारा किसी से संग नहीं तुम्हारे ऊपर किसी का रंग नहीं तुम अगर हो तुम अमर हो तो स्पष्ट रूप से श्रुति शास्त्र महात्मा ये बात बताते हैं परंतु ये बात समझ में नहीं आती सचमुच इस जादू के खेल में मनुष्य मोनुजमान हो गया है मोनुजमान सर्वोलों को बम बनी थी सारी दुनिया मोहित होकर के परस्य कसकिल माया ये सो लोको भूलन दुलोहिता सचमुच किसी की माया ने किसी के जादू ने दुनिया को मोहित कर रखा है लोग इसी में फंसे हुए हैं महम प्रकाश सर्वस्व योग माया समाज इसी को मत प्रकाश है ये जो दुनिया में दिखने वाली चीजों में मोह है बेटा रोज सत्कारता है लेकिन कहते हैं कि मेरा बेटा शरीर रोज टूटता है दर्द देता है रोग फटता है तो कहते हैं शरीर बुरा अपने किए हुए कर्म रोज सताते हैं अच्छा काम हो गया तो अभिमान मिल गया बुरा काम हो गया तो विषाद मिल गया रोज रोज अपने किए हुए कर्म सताते हैं लेकिन कहते हैं मैं कर्म का करता ये दुनिया के भोग रात दिन दुख देते हैं कोई मिल के दुख देता है कोई न मिल के दुख देता है परंतु दुख सब देते हैं परंतु कहते हैं कि हम भोगता तो नारायण यही बात ऐसी माया में ऐसी माया के चक्कर में लोग फंसे हुए हैं प्रस्तुति माया ये सो तो लोग गुण ही विरोहिता मन दूध बदल मुख्यते नत्रा ही रोध सोचती न प्रकाशते तो क्यों जी पहले तो तुमने कहा कि जिसको ये आत्म प्रकाश हो जाता है आत्मज्ञान हो जाता है वो शोक से मुक्त हो जाता है अपने आप को जानो कोई शोक होगा ही नहीं असल में शोक होता ही उसी को है जो शो देखता है या शो करता है ये शोर है ना जो तमाशा देखने में लग गया उसको शोक होता है और जो तमाशा करने में लग गया उसको शोक होता है तो शोक उसको बिल्कुल नहीं होता जो अपने मन और बुद्धि को काबू में रख करके चलता है जीवो न सोचती धीर पुरुष जहां परमात्मा को आत्मा को समझ गया उसके लिए फिर शोक नहीं है फिर परमात्मा का प्रकाश नहीं होता ये बात क्यों कहते हैं तो ये बात क्यों कहते हैं कि असंस्कृत बुद्धे है अभिज्ञेयत्वा जिसको सत्संग का संस्कार नहीं है बुद्धि को जो नए ढंग से नहीं ढालता है उसके लिए परमात्मा का ज्ञान होना मुश्किल है तो संस्कृत शब्द का दो अर्थ होता है संस्कृत भाषा में संस्कार दो तरह के होते हैं को कोई तीन तरह के मानते हैं कर्मकांड में एक संस्कार होता है दोषापनयन जैसे आपके घर में कोई कपड़ा हो और उसमें मैल लग गई हो तो उसका संस्कार करेंगे क्या संस्कार करेंगे साबुन लगा कर धो देंगे तो मैल छूट जाएगा ये कैसा संस्कार हुआ पोशाक रूप संस्कार हुआ दोष को दूर कर दिया और दूसरा संस्कार क्या हुआ तो बोले भाई इसको रंगा रंग कर दो है ना वो पीले रंग में वो पीले रंग में उसको रंग दिया रंग दिया तो रंगना भी एक संस्कार हुआ तो ये जो अपना अंतकरण है इसमें ये बाहर का जो कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया है ना हमारे लकड़ी दो तरह से लकड़ी का संस्कार करते हो एक रंदा होता है तो लकड़ी ऊंची हो नीची हो ऊपर कागज हो रंदा से रगड़ के उसको बिल्कुल बराबर कर देते हैं और उसके बाद पॉलिश करके चम चम चमका देते हैं तो वो जो रंधे से रगड़ के उसमें से उधर खाबर निकालना है इसका नाम दोषापन संस्कार है और उसका जो चालीस उस पर करना है कहीं एक गुणाधान संस्कार है इसका नाम गुणाधान है और कहीं टूटी फूटी हो तो उसको जोड़ देना एक जगह गड्ढा हो गया तो क्या करना छिपकी लगा देना उसके ऊपर इसको अंगहीन है ना अंगपूर्ति अंगहीन हो तो अंगपूर्ति रूप संस्कार मानते हैं अब यहाँ क्या है कि ये जो तुम्हारी बुद्धि है इस बुद्धि में दुनिया के संस्कार तो भर गए अरे महाराज ऐसा पकड़ते तो हैं दुनिया को हैं? मर जाए तो मर जाए पर छोड़ने को राजी नहीं हाँ। रोज लड़ाई होती है वो और फिर वही भाग के तीन पास रोज लड़ाई होती है और फिर वही भाग के तीन पास रोज दुख मिलता है फिर उसी के दरवाजे पर रोज अपमान होता है फिर उसी के सामने ये क्या है बाबा कोई माया है जरूर बुद्धि में संस्कार आना चाहिए संस्कार आना क्या जो पहले की पकड़ है सो छूटना चाहिए अब वो पकड़ तो छोड़ते नहीं मेरे एक आदमी को एक आदमी की किसी से बड़ी आसक्ति थी बड़ा प्रेम था मोह था हम उसको कहते थे कि भाई तू ये मोह छोड़ दे तो तुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी बोला अच्छा महाराज छोड़ देते हैं छोड़ दिया अब महाराज उसको वेदांत का वर्णन सुनाने लगा ये नहीं ये नहीं ये नहीं ऐसा ऐसा ऐसा तुरंत में सुनाया कि सब ब्रह्म ही है और आ चार बात यही है ना कि सब ब्रह्म ही है कहा चार बात तो यही है कि सब ब्रह्म ही है बोले फिर मैं जिससे प्रेम करता था वो ब्रह्म है कि नहीं बोले है भाई वो भी ब्रह्म है तो, तो बोले हम क्यों वो छोड़े फिर है ना कोई घास के तीन पास बोले फिर क्यों वो छोड़े क्योंकि सब ब्रह्म ही है है ना सब ब्रह्म ही है का मतलब ये हुआ कि जिससे वो है उसको छोड़ने के लिए राजी नहीं है उसकी ओर से बुद्धि हटती नहीं है तो बुद्धि में जो मोह का दोष भरा हुआ है उस दोष को निकालना है ना और इसको पूर्णता के रंग में रंगना है ना जो बात समझ में नहीं आती है वो बुद्धि प्राप्त करना और जब संस्कृत बुद्धि होती है अग्रया दृश्यते हो दिया अग्रया माने संस्कृतया अग्रया अग्रम इव अग्रया तया एकाग्रतया उपेतया स्थिता एक दुखी बुद्धि हो बाण लक्ष्य का भेद कम करता है जब उसका लोक तीक्षण होता है बुद्धि परमात्मा में तब प्रवेश करती है आपको क्या सुनावे एक एक बार एक बालक अपना घर को आप छोड़ करके बंदा बन जाएगा तीस वर्ष पच्चीस वर्ष की तरह तीस वर्ष को देखते ही बेचारे क्यों उड़िया बाबा जी महाराज बोले थी समझ सकते हैं बता दें लेकिन लोग कितना भी हटा रहे हैं तो हटे नहीं भूल चुके आई जाए पढ़ा लिखा था अब उसको कोई कहे कि इस स्वरूप परमात्मा का ज्ञान होगा तो बोले कि शुद्ध अशुद्ध क्या होता सब परमात्मा ही होना अब तो साधन का सुरक्षा हो गया ना इस बुद्धि से एकाग्र बुद्धि से कोई कह रहे भाई आप जरा पत्नी करके गौर से देखो सब दिखेगा बोले भाई जब है तब क्या आपको पत्नी करना कि नहीं करना तो दिखेगा तुमको थोड़े ही साधन में फिर नहीं करना चाहिए तो जैसे कोई दूरबीन फेंक करके दूर की चीज देखना चाहे और कोई खुदबीन फेंक करके सूक्ष्म वस्तु को देखना चाहे तो है ही है ये विश्वास करना पड़ेगा जब तक उसको प्रत्यक्ष नहीं कर लेंगे साक्षात अपरोक्ष नहीं कर लेंगे देख नहीं लेंगे उस लड़के की दशा अंत में बड़ी विलक्षण हुई हो यही हमारे जिस मंदिर में हम बैठे हैं मंदिर वाले ये कानपुर वालों का मंदिर नीचे वालों का मंदिर बन रहा था हाँ, और उसको पल्ले लगे हुए थे चढ़ने के लिए काम करने के लिए तो रात को वो ऊपर चढ़ के दोनों गांव बता के लटक गया और सब रंग नहीं है ना और फिर क्या किया कि रेलवे में निष्ठा भर के है ना और आज तक पता होगा बोले ये क्या है मैंने क्या है तो वेदांत का अभिप्राय ऐसा तो बिल्कुल नहीं है है ना पहले बुद्धि का संस्कार करना पड़ता है उसमें जो प्रपंच का माया मोह काम क्रोध लोभ मोह भरा हुआ है उसको हटाना पड़ता है और उसमें श्रवण मनन के द्वारा निधि दिवासन के द्वारा शुद्ध वस्तु को पहले बुद्धि को खाली करना पड़ता है फिर शुद्ध वस्तु की भावना देनी पड़ती है फिर भावना देने के बाद जब बुद्धि एकाग्र होती है तब उस बुद्धि का जो अधिष्ठान है जो प्रकाशक है वही स्वयं प्रकाश अद्वितीय ब्रह्म है ये बोध हो जाता है तो जब बुद्धि नुकीली होती है तीक्ष्ण होती है शुद्ध होती है एकाग्र होती है तब वो प्रत्यक्ष चैतन्य को ब्रह्म ब्रह्माभिन्न हाँ, ब्रह्म को प्रत्यक्ष चैतन्यभिन्न जान पाती है वो कैसी वस्तु होनी चाहिए बुद्धि कैसी होनी चाहिए बोले सूक्ष्मया सूक्ष्म वस्तु निरूपण करेगा तुम्हारी बुद्धि किस चीज का निरूपण करती है आपको रहे महाराज आप लोग तो सत्संगी श्रेष्ठ पढ़े लिखे पुरुष हैं जिज्ञासु हैं आपको तो क्या रहे हम पहले एक सत्संग में जाया करते थे कभी से तो सत्संग में हजारों आदमी आते थे कोई मामूली सत्संग नहीं था और दो दो तीन तीन महीने तक बताताप भीड़ रहते थे उपदेश करने वाला उपदेश करे और सुनने वाला श्रवण करे पर उनको रोज ये बात बतानी पड़ती थी तो सब श्रोताओं को सुनानी पड़ती थी और उस वक्ता को रोज बतानी पड़ती थी कि देखो जहाँ तुम बैठ के सत्संग करते हो ना यहाँ से एक करलान दूर जाके तब जंगल में टी जाना नहीं तो वही बैठ जाते तो महाराज लोग गंगा कर है ना हाँ लघु शंका करने के लिए गंगा जी का किनारा छोड़ करके इतनी दूर जाना उनको मालूम नहीं कि गंगा जी का किनारा गंगा नहीं करना चाहिए तो सौ सयाने एक मत महाराज वो बोले हमारे एक के करने से क्या होता है और सवेरे सारा किनारा गंदा बोले तो जिसकी गंदे में रुचि है अपवित्र में रुचि है जो दुर्वृत्त को छोड़ना नहीं चाहता दुराचार को छोड़ना नहीं चाहता दुर्भाव को छोड़ना नहीं चाहता दुर्बल को छोड़ना नहीं चाहता है ना और सर्वल खंडोदम ब्रह्म के ज्ञान से उसका समर्थन करना चाहता है तो उसको ये परमात्मा का ज्ञान कैसे हो है ज्ञान पहला सोचता है हम इसके पास जाएंगे तो ये हमको भी गंदा कर देगा है ना हमको भी गंदा कर देगा स्वच्छ पुरुष गंदे के साथ कैसे मिले तो सूक्ष्म वस्तु निरूपण करेगा देखो तुम्हारी बुद्धि किस वस्तु का स्पर्श करती है तुम्हें चोर की कथा में आनंद आता है कहो दृष्टांत सुना दे चोर का भूत की कथा में आनंद आता है तो हम कितनी चुड़ैलों की कथा सुना दे है ना अगर तुम्हें खटके और खटे के दृष्टांत ही अच्छे लगते हैं तो चलो हम तुम्हारे मन को है ना किसके घर में पहुंचा दे बुद्धि से तत्व ग्राहिणी भगवत ग्राहिणी परमात्मा ग्राहिणी होती है, है? जब बुद्धि को सिवाय परमात्मा के ये हो जगत समस्त परमात्मा के सिवाय जब दूसरी वस्तु अच्छी नहीं लगती है उसी को सुने और उसी को बोले और उसी में रम जाए तुम्हारी वस्तु तुम्हारी बुद्धि स्थूल वस्तु को पकड़ती है कि सूक्ष्म वस्तु को पकड़ती है हाँ। ये देखना तो जिसकी बुद्धि सूक्ष्म वस्तु को पकड़ने वाली होती है उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है हाँ। श्री हरि राजा जी महाराज एक इधर कथा सुनने जाते थे हाँ। एक प्रभु पाठ थे वृंदावन में नित्यानंद महाप्रभु के जो बंधक होते हैं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु तो, तो नित्यानंद प्रभु के जो दर्शन है उनको प्रभु पाद बोलते हैं वो प्रभु पाद तो उनके घर जाते तो कथा सुनने तो वो गृहस्थ होते हैं गृहस्थ होते तो उनका जो बैठक उनकी जो बैठक थी खूब सितारी हुई छुट्टियों पर साल विशाले कहे हुए चारों जाके चुपचाप आंख नीचे करके गए नीचे बैठ गए किसी की ओर देखते तो क्यों नहीं कथा सुनी चले आए चार महीना गए कथा सुनने को एक दिन एक सेवक जो उनके साथ जाता था उसने कहा कि महाराज कथा तो बहुत बढ़िया कहते हैं लेकिन ये साल दो साले उनके घर में कहा को चले हुए हैं तो बोले कि भले मानो हमने तो कभी आंख उठा के देखा भी नहीं कि भीत पर क्या है वो इतनी बढ़िया भगवान की कथा कहते हैं ये हम सुनते जाते हो तुम्हारी बुद्धि जो है गुबरौना है वो सीटी है सीटी की बुद्धि शक्कर होती है और गुबरौने की बुद्धि निष्ठा लेती है तो तुम्हारी बुद्धि कहाँ फंसी हुई है तो बुद्धि बिल्कुल नुकीली आंख तो जब देखो हजार आदमियों की भीड़ हो और उसमें तुम्हारा कोई प्यारा व्यक्ति बैठा हो तो तुम्हारी आंख झट ढूंढ के अपने प्यारे पर चली जाएगी जिससे तुम्हारा प्रेम होगा ये आदमी अगर हजारों की भीड़ में बैठा हो तो तुम्हारी आंख उस पर चली जाएगी कि नहीं कि तो यदि संसार की भीड़ में प्रपंच की भीड़ में परब्रह्म परमात्मा टिका हुआ है और तुम उसके प्रेमी हो उसके जिज्ञासु हो तो तुम कौन ही हाँ, उसी उसी को उसी उसी को देखते उसी पर तुम्हारी आंख क्यों नहीं जाती वो या तो है नहीं और या तो तुम्हारी है तुम्हारी आंख में प्रेम नहीं है उसको भूल नहीं निकालती तो जिसकी बुद्धि एकाग्र होती है नुकीली होती है अपने लक्ष्य का बोधन करना चाहती है और सूक्ष्म हमारे सूक्ष्म वस्तु को पकड़ने वाली होती है वो बुद्धि दृश्य को प्रग्रया बुद्धिया बुद्धि में दो चीज चाहिए एक एकाग्रता अग्रया और एक सूक्ष्मया सूक्ष्मता एक आगे भी गया पर हो गया है ना किसी की बुद्धि रसोई बनाने में एकाग्र हो जाती है किसी की बुद्धि कपड़ा सीने में एकाग्र हो जाती है बुद्धि एकाग्र है कि नहीं नोट बनने में दुनिया में कितने एकाग्र होते है आप देखो आप सत्संग की बात सुनते हो तो कभी कोई बात सुनाई पड़ती है तो छूट जाती है ये ऐसे ही है जैसे नोट गिनने में कोई कोई नोट छूट गया होगा ना हाँ। ये नोट से कम महत्वपूर्ण नहीं है तो नोट गिनते हो सकते उसको इतना महत्वपूर्ण समझते हो कि एक नोट की भी भूल न होने पाए और सत्संग सुनते हो तो तुम्हारी बुद्धि है ना तुम्हारी बुद्धि नुकीली क्यों नहीं रहती है है ना प्रत्येक बात को महत्वपूर्ण समझ करके उसको कैर इंतजार करके क्यों नहीं ला जाती है देख लेते है क्यों मन दुकान में चले जाता है इसका अर्थ है परमार्थ की जिज्ञासा नहीं है परमार्थ को प्रीति नहीं है तो एक तो बुद्धि होनी चाहिए नुकीली छेद दो महाराज हजारों के बीच में से जा करके उसी पर जमे और सूक्ष्म मोटी मोटी बात पर मोटी मोटी बात पर नहीं बने तो यही बात यहाँ समझाई गई कि जो जो ब्रह्म परमात्मा ये कहा इंद्रिय यह परा यथा अर्थ ये परम मन क्या है तो ये सूक्ष्म है इस तरह से स्थूल से सूक्ष्म की ओर विषय से इंद्रिय में इंद्रिय से अर्थ में अर्थ से मन में मन से बुद्धि में बुद्धि से महत्वत्व में महत्वत्व से अव्यक्त में अव्यक्त से परमात्मा में जो सूक्ष्म सूक्ष्मतम है उसको बुद्धि ग्रहण करे तब उसको सूक्ष्म बोलेंगे ये सूक्ष्मता की परंपरा सूक्ष्मता का भी बताया और एकाग्र का अर्थ है केवल उसी को ग्रहण करे ऐसी जिसकी बुद्धि है वे सूक्ष्मदर्शी विद्वान इस तत्व को इस परमात्मा को पहचानते हैं बोले भाई हमारी बुद्धि सूक्ष्म और एकाग्र हो जाए इसके लिए कोई योग कोई युक्ति चाहिए अच्छा इसके लिए योग युक्ति चाहिए तो लोग इसके लिए योग युक्ति भी बताते हैं जक्षेदवान्मनसी प्राज्ञः तद्जक्षेद्ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति जक्षेत् तद्जक्षेच्छान्त आत्मनि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्यवरान् निरोधत क्षुरस्य धारा सीता दुरत्वया दुर्गम् तथस्तत्कवयो द्वार इस तत्व को इस परमात्मा को पहचानते हैं बोले भाई हमारी बुद्धि सूक्ष्म और एकाग्र हो जाए इसके लिए कोई तो योग कोई तो युक्ति चाहिए अच्छा इसके लिए योग युक्ति चाहिए तो लोग इसके लिए योग युक्ति भी बताते हैं गच्छेद राम मनसी प्राज्ञ तद जक्षेद ज्ञान आत्मनो ज्ञान नाशमणि महति यक्षोत तब जक्षे छांत आत्मनि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बरा निरोधत क्षुरस्य धारा सीता दुरतया दुर्गम प्रशस्तवयो वदन्ति जक्षे भगवान मनसी प्राज्ञः और जरा भीतर होगा इसका अभिप्राय आपको सुनाएंगे इस भीतर का स्वयं समाधि लगाने में मन बिल्कुल कुछ ग्रहण न करे एकाग्र हो जाए तो हम जानते हैं हमारे एक प्रसंग से उन्हें बाबा जी महाराज के सामने बैठे थे तो प्रसंग करते करते करते उनका सिर एक जुट जाता तो बाबा से तो क्या हो गए तो नहीं नहीं मेरा समाधि कर रहे थे सुनते सुनते समाधि कर तो असल में भी जो परमार्थ है इसके लिए समाधि लगाना भी रास्ते में एक स्थान हो सकता है लेकिन ये खुली आपको देखने की चीज है इससे आपको काम धंधे में कोई बाधा नहीं करेगी दूसरा पैसा काम में भी कोई बाधा नहीं करेगी स्त्री सूत्र में भी कोई बाधा नहीं करेगी इस ज्ञान की समाधि बड़ी विलक्षण होती है बड़ी विलक्षण समाधि होती है ये वो जरा वाणी को धन में ले आओ ये देखो वाणी को धन में ले आओ क्या है जीव को है उसके कलेजे चले जा कई जो भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं वो जीव को लक्ष्य के कानून में एक छेद होता है तो उस बालक को था तेरे मैंने इक्कीस वर्ष पहले देखा था इन मुंबई में उसकी ऊपर छोटी छोटी है वो बीज निकाल के नाचता था है ना बचपन से ही आप अपनी नाक तक अपने चीज को पहुंचाने की कभी कोशिश करके देखना हम कहते ही हो उसकी बीज बड़ी लंबी चीज थी जिसको बचपन में हम नाश तक होता है उन्हें अपने सत्रह बरस की गर्मी में गुजर रहा होता जो ब्रह्मण का आस्वादन नहीं होता खोपड़ी का ही बस होता है ना वो रस तो खोपड़ी का ही होता है ब्रह्मरस नहीं होता है है ना क्योंकि जीत पर जो स्वाद आता है और पानी के रूप में जो निकलता है वो तो शरीर का स्वाद होता है तो ब्रह्मांड थोड़ी होता है ना वो ब्रह्मांड नहीं होगा तो ऐसे जीव को मन में नहीं ले जाया जाता और जीव को बात हो या बात जो है संपूर्ण इंद्रियों का उपलक्षण है श्रीमद भागवत में तो इसका वो विस्तार से निरूपण है जच्छेद वाम भलसी प्राज्ञा इससे पहले वाणी से ही आप लोग जीव से बोलते हैं कुछ न कुछ बोलते हैं तो जो मन से जानते हैं वही जीव से बोलते हैं अच्छा जानते हैं अच्छा बोलते हैं बुरा जानते हैं बुरा बोलते हैं नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं ऐसा बोलते हैं जानते हैं तो हाँ जानते हैं ऐसा बोलते हैं वाणी से जो बोलना होता है वो यदि मन में कोई चीज न हो तो जीव बोले कैसे तो बोले जीव का पत्ता काटो जीव की सत्ता काटो जीव की महत्ता काटो ये करो कि मन से जुदा जानी नहीं है मन से जुदा चलना नहीं है मन से जुदा करना नहीं है मन से जुदा बोलना नहीं है शेष घोषो विवर प्रसूत ही प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टा मनोमयं सूक्ष्मनिवेद्यरूपम् मात्रा स्वरो वर्ण इति मन ही पहले मात्रा बनता है फिर स्वर बनता है फिर वर्ण बनता है ये जो चीज उल्टी है ये मन के जाए होती है मन अगर बदलावे तो जीव भूले नहीं मन न हिले तो ग और व में क्या फर्क है तो ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा एक होता है बाप का ग और वाक्य का वो वो ब बोलने में आपको फर्क मालूम पड़ता है कि नहीं एक से बोला जाता है और वह गले में भीतर से बोला जाता है भीतर से वह बोला जाता है और हाँ, ये तो ये तो आप जानते हैं है ना उनकी कदमा नहीं आना ओष्ठ और यह लगा अंत अंतस्था हाँ? ये भीतर से बोले जाते हैं और उसके बाहर से बोले जाते हैं तो ये होठ को कौन मिलाता है कब निकलता है और गले के और नीचे भीतर है ना कल उसी से प्रेम मिलाता है तो हुआ निकलता है बोले ये जितने अक्षर निकलते हैं जितने वर्ण निकलते हैं जितने स्वर निकलते हैं क ख ग ये वर्ण है ना ये स्वर और इनसे भी छोटी इनकी मात्राएं कहाँ से निकलती है इस वर्ण समामनाय के उच्चारण पर जरा ध्यान दो ये कैसे निकलते हैं तो बिना मन संकल्प के मन के द्वारा शरीर के अवयव विशेष को स्पंदित किए बिना हिमाए बिना बात उच्चारण नहीं कर सकती तो असल में जब मन है तब बात है जब मन नहीं है तो वाक नहीं है सुसुप्ति में कोई क्यों नहीं बोलता है तो असल में ये बात ये हाथ ये पांव ये जुदा ये मित्रेंद्र ये काम करते ही सब है जब उनमें मन हो गए और आप कब काम करते हैं काम कब सुनता है है ना स्वाद कब मालूम पड़ता है कि जब मन हो मन के बिना कोई भी इंद्रिय अपना अपना काम करने में समर्थ नहीं है मन के होने पर इंद्रियां हैं और मन के न होने पर इंद्रियां नहीं है इसलिए मन से जुदा इंद्रियां हैं ये कल्पना छोड़ो अब मन कहाँ है ये बात कल सुनाएंगे